पूछही न बानर तह जा तब सठ निज नाथ हिलय आए जिनके किन्ह से बहुत बड़ा देखो मैं तिनके प्रभुता बचन सुनत कपि मन मुस्कान भई सहाय सारद में जान जातु धान सुन रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना जब बिना पूछ का या बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को सांस ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे दहान नगर बसन घृत तेला बाढ़े पूछ किन् कपिखेला कौतुक कह आए पुरबासी मारहि चरण करहि बहुहासी बाजहि ढोल देहि सब तारी नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखि हनुमान ता भय परम रूप तुरन्ता निबुक चढ़े कपिक नक अटारे भई सभी तनिसाचर नारे पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई लंबी हो गई नगरवासी लोग तमाशा देखने आए वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं ढोल बजते हैं सब लोग तालियां पीटते हैं हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनचास अट्टहास कर गर जान कपि बढ़िला उस समय भगवान की प्रेरणा से उन चासों पवन चलने लगे हनुमान जी अट्ठा अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे देह विशाल परम हरु आए मंदिर ते मंदिर चढ़ी जरई नगर भालोग बिहार झपट लपट बहु कोटि कराला तत्मा तुहा सुनिय पुकार यही अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं हो बानर रूप धरे सुर को देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं नगर जल रहा है लोग बेहाल हो गए हैं आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं हाय बप्पा हाय मैया इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है हमने तो पहले ही कहा था